और उस दिन को न भूलो जब हम हर उम्मत में से उन लोगों की पूरी फौज को घेर लाएंगे जो हमारी आयतों को झुटलाया करते थे फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी